चक्षुरदमृतगरी दिक्कुशाप्लावितानाम् नास्नाकम् नास्तिका प्रविदितमहताम् ब्रह्मभावम् गतानाम् दिङ्क्लेशा धर्म शास्त्र धर्मशास्त्र में एक विधान है कि जब इस नदी में स्नान करें जिस गंगा जी में स्नान करें गंगा जी के सिवाय दूसरी नदी की याद न करें मैं तो गंगा जी सोचती हूँ तो देखो मुझने तो स्नान कर रहा है हाँ, और याद दूसरे की कर रहा है ये धर्मशास्त्रों में देवी जब जिस तीर्थ में स्नान करें उसी तीर्थ को नमस्कार है और बाल्टी के पानी से नहाए तो गंगे से गंगे से ही गोदावरी तरफ से सरस्वती सबकी है <laughs> तो तीर्थ में और धाम में थोड़ा अंतर होता है तीर्थ माने तो होता है तरने का साधन परंतु अनेना इसी तीर्थम जिससे मनुष्य तर जाए उसका नाम तीर्थ तीर्थ गांव की तरह है संसार सागर में तीर्थ नाव है नाव में बैठ गए संसार सागर के पार हो गए और पार होकर तीर्थ को छोड़ दिया और धाम इसको कहते हैं कि नाव से संसार सागर पार करने के बाद जहाँ पहुँच जाए और हमेशा के लिए रहें उसका नाम धाम होता है तो गीता में तो देखो भगवान को ही धाम कहा है आपके ध्यान ध्यान में होगा भगवान का एक नाम धाम है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान भगवान स्वयं धाम है तो आप कहा बैठे हैं इस समय ये आप धरती पर नहीं बैठे हैं तीर्थ में नहीं बैठे नाव पर नहीं है और इस कार भी नहीं है न इस कार है न नाव पर है तो कहाँ है तो जहाँ पहुंच जाना चाहिए वहाँ तो प्यारी झूले में पधारो झेरी आई बदली ये तो बादल छाए हुए हैं ये प्रिया प्रीतम का धाम भागवत में परब्रह्म परमात्मा को ही धाम कहा गया है राधता काम्या पिछये न राधसा ब्रह्मणि रंस्यते मना ब्रह्म ही धाम है मंगलाचरण में सत्य की जो स्वयं प्रकाशता है ना उसको धाम कहा गया है भागवत कामना स्वेन सदा निरस्त कुहतम सत्यम परम धीम ही यहाँ परम सत्य का जो स्वरूप भूत ध्यान है प्रकाश है माया छाया जिसका कभी स्पर्श नहीं करती उसको धाम कहा गया है तो आप इस समय धाम में पर ब्रह्म परमात्मा में स्वयं भगवान के स्वरूप में और परम सत्य के प्रकाश में बैठे हुए अब आओ धाम में रूप रूप का नाम रूप का गुण रूप की लीला रूप की महिमा रूप का रहस्य रूप का तत्व तो ये जो श्री वृंदावन धाम है जहाँ आप बैठे हैं इसी समय यहाँ से न आपको स्वर्ग में जाना है न बैठो उसमें न ब्रह्मलोक में जहाँ आप बैठे हैं उससे बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं यत्र प्रवृत्त सकलो जंतु आनंद प्रसिद्ध जहाँ आप बैठे हैं यहाँ के वृक्ष यहाँ की लता यहाँ के रजत का जब सब सच्चिदानंद धन स्वरूप है तो आप सच्चिदानंद धन स्वरूप नहीं है ये कल्पना मन से निकाल देती है आइए अब भगवान के खेल में उनकी लीला में थोड़ा सुधार करें तो वैसे वृंदा शब्द का अर्थ होता है तुलसी और दल से तो आप जानते हैं तुलसी स्वामिनम यंत्र जहाँ तुलसी का दम होता है वहाँ भगवान सन्निहित होते हैं तुलसी कारणम यत्र शस्त्र सन्निहित हरि तुलसी का दम जहाँ होता है वहाँ भगवान आते पास होते हैं तुलसी की गंध भगवान को बहुत प्यारी वृंदा तुलसी है और वहाँ यहाँ एक वृंदा नहीं है वृंदा का वन है एक तो तुलसी के पौधे के साथ नहीं जितने तुलसी के पौधे हैं सबके साथ हो गया वृंदा शब्द का अर्थ है जिसके कपित्व से प्रभावित होकर जिसके काफी धर्म से प्रभावित होकर स्वयं विष्णु भगवान के हृदय में अनुराग का उदय हुआ और अपने ऐश्वर्य का धर्म का परित्याग करके विष्णु भगवान ने वृंदा को संबंध जोड़ा उस अनुरागमयी वृंदा का ये धाम धन जहाँ गोपियां धर्म छोड़ गए अपना इसमें तो आप चल रही क्या जहाँ भगवान भी अपना धर्म अपना ऐश्वर्य छोड़कर विहार करते हैं उसका नाम है वृंदावन वृंदा माने आप वृंदा नहीं वृंदा के समान तुलसी के समान छोटे छोटे वृक्ष वृंदावन वृक्षों का धर्म जिसमें हिंसक पशु न रह सका सिंह न रहे बाघ न रहे अभ्रेरिया न रहे छोटे छोटे वृक्षों का वन वृंदा माने वृंदा शक्ति के द्वारा अधिष्ठित वन वृंदा माने श्री राधा रानी का वन वृंद वृंद जो साधु हैं साधु वृंद उनका जो आवन करे रक्षण करे उसका नाम वृंदावन वन नहीं अवन वन संभव वननम नाम संभजनम भजन करने का स्थान आप वृंदावन में श्री अवधाम में श्री चित्रकूट में पंथरपुर में भजन करने वाले जितने लोग रहते हैं उतने अन्यत्र दुर्लभ इसलिए ये वन माने संभजन का स्थान यहाँ के वृक्ष भजन कर रहे हैं यहाँ की लता भजन कर रहे हैं यहाँ के बालू कण भजन कर रहे हैं यहाँ के पशु पक्षी भजन कर रहे हैं ये भजन का बन है इस वृंदावन में कृष्ण कृष्ण शब्द का अर्थ देखो वैसे संसार में जितने नाम होते हैं घड़ा एक नाम है तो घड़ा कहा तो दिखाओ घड़ी एक नाम है सामने रखी है तो घड़ी शब्द तो मुंह से बोला गया और घड़ी सामने चौकी पर रखी है और मुंह से बोले हुए घड़ी शब्द का अर्थ चौकी पर रखा है ये ज्ञान हृदय में है अर्थ अलग है शब्द अलग है उसका ज्ञान अलग है परंतु ये नियम केवल चार वस्तुओं के व्यवहार में होता है जहाँ चेतन वस्तु का व्यवहार होता है वहाँ अर्थ शब्द और ज्ञान अलग अलग नहीं होते जो चेतन वस्तु है वही चेतन शब्द है वही चेतन ज्ञान है चेतन वस्तु में अर्थ का और ज्ञान का भेद नहीं होता इसलिए शब्द का भी भेद नहीं होता जो भगवान है वही भगवान का नाम है जो भगवान जो भगवान का नाम है वही भगवान है श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कृष्ण भगवान भगवान कैसे है यादृति अभिव्यक्ति जैसी अभिव्यक्ति है कृषि अभिव्यक्ति तो यादृतो भगवान अभिव्यक्ति कैसी है तो जैसे भगवान भगवान और भगवान का अभिव्यंजन जैसे चक्कर और चक्कर की बनी मिठाई खाण और खाड़ की बनी मिठाई जैसे अलग नहीं होती ऐसे भगवान और भगवान का नाम भगवान और भगवान का रूप ये अलग अलग नहीं होता वैष्णव ग्रंथों में ऐसा वर्ण आता है देह देह विभागेयम ईश्वरे न प्रवर्तते एक जीव जब विवेक करता है कि ये हड्डी मांस श्याम का बना शरीर है और मैं इसमें जीवात्मा हूँ ऐसे यदि भगवान श्री कृष्ण विवेक करने बैठे कि ये मेरा शरीर हड्डी मांस श्याम का बना है और मैं चेतन आत्मा हूँ तो उनका शरीर जड़ मानना पड़ेगा ना तो जैसा पंचकोश जीव के शरीर में होता है पंच कोष भगवान के शरीर में नहीं होता उसमें अन्नमय भी चेतन है प्राणमय भी चेतन है मनोमय भी चेतन है विज्ञानमय भी चेतन है आनंदमय भी चेतन है वहाँ ज्ञाना ज्ञानमयी सर्व लीला चेतन ही चेतन है वहाँ जड़ता का नाम नहीं है इसलिए जैसे देह और जीव का विभाग होता है वो तो भगवान और भगवान के देह का विभाग नहीं होता श्रीमद भागवत में भी ये बात है देह देह विभागेयम अभिवेक पृथक पुरा जाति व्यक्ति विभागेयम यथा वस्तु कल्पिता कठे संघ में श्लोक आता है जो उसे घट और घटत्व घटक व्यक्ति और घटक जाति ये दोनों मृतिका से पृथक नहीं है इसी प्रकार ये दो दो ही विभाग परमात्मा के स्वरूप में नहीं है इसलिए संसार में जैसे रूप जड़ होता है नाम जड़ होता है और नामी चेतन होता है रूपी चेतन होता है ऐसा भगवान के बारे में नहीं है भगवान का नाम भी चेतन है और भगवान का रूप भी चेतन है हाँ। इसी से जो काम भगवान करते हैं वही उनका नाम करता है जो काम भगवान करते हैं वही उनका रूप करता है जो काम भगवान करते हैं वही उनका धाम करता है धाम भी चेतन है रूप भी चेतन है लीला भी चेतन है नाम भी चेतन है उनके गुण भी चेतन है हाँ। जीव अपनी दृष्टि से जब अपने देह के ही विभाग की दृष्टि से ईश्वर के बारे में सोचने लगता है तब वो अपने समाज ईश्वर के बारे में सोचने लगता है चेतन सर्वेश्वर में नाम नामी का विभाग नहीं होता है औन्नत्वात नाम नामो हो वैष्णव लोग कहते हैं कि नाम और नामी का अभेद है श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पटना श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय केवल मुद्दे से जो रही स्वयं एवं पुरस्व था जिसका से जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं शब्द बाद इंद्रिय के द्वारा उच्चारित होता है और स्रोत इंद्रिय के द्वारा श्रुत होता है और भगवान का नाम न बाघ के द्वारा उच्चारित होता है और न श्रवण के द्वारा श्रुत होता है तब तो, तो स्वयं चेतन है जब हमारी चेता संसार के शब्दों का उच्चारण छोड़ देती है और जब हमारा काम संसार के शब्दों का श्रवण छोड़ देता है और भगवान नाम के लिए ये उन्मुख होते हैं तब केवल मुखे जो जिज्ञासई स्वयं एवं स्थिर तब ये स्वयं प्रकाश नाम अपने आप ही हमारी चेष्टा पर और काम पर पूरी होता है ये नाम रूप स्वयं प्रकाश है हृदय में रूप का प्रकाश होता है आंख में रूप का प्रकाश होता है कान में नाम का प्रकाश होता है वाणी पर नाम का प्रकाश होता है ये चेतन का प्रकाश है इसलिए साधन साध्य का विवेक साधारण लोग जो भगवत रहस्य को जानते नहीं है वो साधन साध्य का विवेक ठीक ठीक नहीं कर सकते तो आप थोड़ी सी चर्चा करें भगवान के बारे में प्रेम का उद्दीपन क्या होता है देखने में पहली बात को तो कही ये कही क्रोध का उद्दीपन क्रोध होता है भगवान हमारे क्रोध में मुबतला हो जाए मदर हो जाए सर्वर हो जाए पंडित हो जाए भगवान हमारे क्रोध में सब सबको भूल जाए शुद्ध हो जाए ऐसा भगवान को अपना प्रेमी बनाने का क्या ही क्या तरीका है क्या उपाय है भगवान स्वयं हमारे प्रेम में मग्न हो जाए और हम भगवान के प्रेम में मग्न हो जाए इसका क्या उपाय है आप देखना श्रीमद भागवत में भगवान कहते हैं कि मेरा मन रुक्मी में ऐसा लग गया तथा तो निद्रांक न लघु मेरा प्यार रुक्मणी को तो, मेरा विचार रुक्मणी में मैं जिसकी सोचता हूँ रुक्मणी की प्राप्ति के लिए और रात रात सारे दिन तो नहीं सकती है तो हमारी रात सारे जिसकी रात सारे दिन के कटे उसको प्रण अब कभी सारों को प्रण होगा दुर्योधन को तो प्रण थोड़ी होगा कहीं क्या प्रयोग जब रात गई चिंता हूँ भगवान के तारे धीरे धीरे तो तारे गिनते हैं तो क्रोधन रुक जाता है प्रियतमा प्यारी रुक्मणी कैसे मिले रुक्मणी हाँ। क्या करें कि रुक्मिणी मिले विचार करते करते रुक्मिणी का चिंतन करते करते कृष्ण को रात्रि में निद्रा नहीं आती क्यों भाई मेरे अरे मेरा कार्यो का भगवान ऐसा ये अपने प्रेमी के चिंतन में रात को सोने भूल जा देखे भगवान परमानंद होता है कि नहीं पर उनको आनंद पद आता है तो वर्षो अंग संगा कृपा उस समय सुदामा छाती से लगे भगवान को तो अति मेरे बेटा भगवान तुमसत्व परमानंद को मग्न हो गए और अब कुंतु हाँ, उस आंखों को तक आंसू गिरने लगे यदि भगवान भक्त से प्रेम न करें तो भक्त के हृदय में प्रेम का हृदय कहा होगा सबके हृदय में क्रोध को जगाने के लिए ये निर्गुण ब्रह्म का काम नहीं है ये निराकार ब्रह्म का काम नहीं है हरिद्वारी ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता ये तो वृंदावनी ब्रह्म कर सकता है है ना ये तो अवधि ब्रह्म कर सकता है है ना ये तो गोकुल चंद्र कर सकते हैं इतना प्रेम अपनी ओर से देते हैं इतना प्रेम देते हैं कि उनके प्रेम को देख करके भक्त के हृदय में निश्चित प्रेम जागृत होता है और भक्त के प्रेम की वृद्धि देखकर भगवान उसके अधीन होते जाते हैं और भगवान की अधीनता देख देख कर भक्त का प्रेम बढ़ता जाता है ज्यादा अधीन भगवान की ज्यादा अधीन भक्त भूल लग जाती है हाँ, हाँ, हाँ। भगवान तो खुश देख करके हमारे प्रेम से भगवान प्रसन्न है भक्त का प्रेम और बढ़ता है और भक्त का प्रेम जितना बढ़ता है उतना भगवान का आनंद बढ़ता है जितना भगवान का आनंद बढ़ता है उतना भगवान का प्रेम बढ़ता है अब हुआ क्या कि भगवान तो सब सृष्टि स्थिति प्रलय भूल गए हो प्रेम भगती वर्ष प्रेम भक्ति के वर्ष में हो गए और कहा आए सौ सन्यासी तो समझा की गोद में तो समझा की गोद में आ गए कहा गया वैभवी कहा गई देश काला परिच्छिन्नता कहा गई अद्वितीयता हाँ। तो ये जो भगवान की पर्वतता है एवं संपर्कता यंग हरिणा वृक्ष वश्यता तो ये जो भगवान का अवतार है हाँ, हाँ। ये भक्त के प्रेम भक्ति के बस में होकर भगवान का अवतार है नहीं भक्तों के प्रति इतना प्रेम है भगवान के हृदय में वो प्रेम के सामने वे अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं ईश्वर को कहते हैं करोड़ ईश्वर जिधर ईश्वर हाथ रोज खड़ा हो तो यहाँ ईश्वर का काम नहीं है तो हमारा क्या क्या है तो आओ हम अपने प्रेमी भक्तों के प्रेम पर तुम्हें निछावर करके वो हिमालय की ओर कहीं देते हैं जाओ वहाँ गरीबों का भला करो है अच्छा सौ तो वेदांति लोग बहुत खुश जाएंगे ऐसा बोलने पर कभी ऐसा मत समझना ऐश्वर्य ही जो माधुर्य है आप ध्यान दो इस ऐश्वर्य का परित्याग किया जा सकता है उस ऐश्वर्य से रहित जो माधुर्य है वेदांतियों का ब्रह्म ऐश्वर्य राम है कि नहीं उनकी बड़ा पूछना से वेदांतियों के ब्रह्म के पास कुछ ऐश्वर्य ही नहीं है ईश्वर जिसको पास होता है जिसको पास एक दोष का राज्य होता है तो ब्रह्म के पास दोष है चौबीस साल तक पांच बरस तक एक कुर्सी हाथ में रहे तब मैं स्वर्ग हूँ पांच बरस की कुर्सी तक तो ब्रह्म के पास हो नहीं और एक प्राण की गौरवरी तक तो है नहीं क्या ईश्वर चार पांच आदमी उनके हाथ के नीचे नहीं ये भी नहीं तो पांच आदमी का आगे आना हुआ है तो यदि पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को भक्तों के प्रेम पर निछावर करके और देता हो तो उसको तो मधुर मधुर मधुर मधुर ब्रह्म की जो अभिव्यक्ति होती है वहाँ तो जित दोषों जित ज्ञान नहीं है अपने आप ही अपने आप ही ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है ये ईश्वर का जो तिरस्कार है जो गोदान सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है ये ये जो हमारे भक्तों का जो माधुर्यामृत माधुर्यामृत सागर है इसमें स्वर्ग के बर्फ में जमते हैं जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है ना वहाँ बर्फ के टुकड़े हो जाते हैं सिलाए हो जाते हैं तो वो बर्फ जो है वो जल का ऐश्वर्य है और जल जो है वो स्वयं माधुर्य है बर्फ विभूति है और जल जो है एकाम विभूतम योगम नम जो देश तत्वतः जो तो जो देना विद्यते नाथ प्रसंशया सोलर विभूति है और सोना योग है बर्फ विभूति है और पानी योग है और रसोई पकाना विभूति है और अग्नि योग है तो नारायण ये परमेश्वर परमेश्वर अपने प्रेम भक्ति वाले भक्तों के सम्मुख अपने ऐश्वर्य का त्याग करके जो गोद में आ जाते हैं उनके प्रेमात्मक बन जाते हैं इसमें सार नहीं हो अवतार ये तार नहीं है ये भक्तों को तारना नहीं है भगवान का स्वयं तारने वाली जगह छोड़ के जहाँ तारने के लिए लोग रहते हैं वहाँ उतर जाना है वहाँ पे समन नहीं बोलते हुक्म नाना नहीं बोलते आदेश नहीं बोलते कि हमारे देश में आकर हमसे मिलो हम तारीख को दस दिन में हमारी अदालत में आकर हाजिर हो ये नहीं देखते ही मिलने के लिए आते हैं